प्रश्न जो महात्मा भजन वजन के लिए विरक्त महात्मा लोग को तो ऐसे देखा है कहीं घास में बैठ के और कोई रोगी आया अरे किनका उठा के दे दिया उसको जाओ पीस के पी दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा चार मिर्च इसमें मिला देना तुलसी का दो पत्ता मिला देना दो पत्ता विरक्त महात्मा पर तो विश्वास हो तो वो जगत का कल्याण कर सकता है ये तो बहुत करके आलसी लोग जो हैं तो कुछ करते धरते नहीं है कुछ श्रृंखल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं हम जैसे मौज हो इसके रहे कुछ करो तो सही सौसठ माला भगवान के नाम का जप कर लो रोज के सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो में जाना तुलसीदास जी के भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं इसी धरती पर रहते हैं और यही उनका भजन करो और तुलसीदास जी को भगवान मिलेंगे भगवान अमुक जगह रहते हैं अमुक जगह नहीं रहते हैं ये सब बात ऐसी है हाँ निष्ठा बनाने के लिए जरूरी है कि अब हम जिंदगी भर वृंदावन में ही रहेंगे यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे एक थे बाबा उनका नाम था बरगदिया बाबा फरुखाबाद के पास कहीं रहते थे गंगा किनारे वहाँ एक बड़ का बड़ा सारा पेड़ था तो उन्होंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की कि जितनी दूर में ये बरगद की छाया जाती है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे तो कोई संत दर्शन करने गए उनके चेले भी थे चेले ने पूछा कि महाराज ये प्रतिज्ञा करने से क्या लाभ देखिए प्रतिज्ञा तो करने से ये लाभ कि मकान बनाना छूट गया किसी के घर रोटी मांगने जाने से छूट गया सिनेमा देखने से छूट गया बाजार से सौदा खरीदना छूट गया जहाँ जैसी हवा आधी पानी आया वहाँ बैठे रहते हैं व्याख्यान देने में ही परम कल्याण नहीं है देखो उस महात्मा का जीवन जरा बैठ के देखो तो अजी एक तो बरगद का पेड़ नहीं आप एक गांव का करके देख लीजिए कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं कई लोग ऐसे हैं जो नौ तक काशी में ही रहेंगे बाहर नहीं निकलेंगे उनकी कितनी वासना मिट गई कितनी इच्छा मिट गई कितना भोग जो दूसरी जगह जाने से उनको मिलता है उससे बच गए छूटने की इच्छा हो तो छूटने के बहुत तरीके हैं तरह तरह से छूट सकते हैं चारों तरफ एक सौ आठ बार परिक्रमा लगा लिया जहाँ तक परछाई जाती है वहाँ तक जाके शौच हुआ है जहाँ नदी बहती है झरना बहता है वहाँ नहा लिया रोटी कोई दे गया तो खा लिया नहीं तो उस दिन भूखे रह गए और रोटी की तो देर लगी रहती थी उनके पास भगवान पर विश्वास करके रहो तो सही भगवान पर विश्वास ही नहीं होता है देखो एक रहनी ये है एक रानी ये थी वैष्णव थे महात्मा छपरा के समय उनके साथ पांच आदमी जरूर बने रहे नदी में स्नान करते थे और अपने हाथ से रसोई बनाते थे भगवान को भोग लगाते थे और भगवान को भोग लगाकर खिलाकर श्रद्धा करते अब देखो उनको तो पांच आदमी के साथ हमेशा रहे तो कोई गलत काम करने का कोई मौका ही नहीं मिले हमेशा अच्छे काम में लगे रहे और बढ़िया बढ़िया अपने हाथ से बना के खाना तो बढ़िया बढ़िया बना के खाने को भी न मिले साधारण भोजन करें तपस्या का जीवन व्यतीत करना हो तो करके देखो ये साधु शाही माने पाउडर लगाने का और तेल फुले लगा के रंगने का और दिखाना बड़े भारी महात्मा चमत्कारी है महाराज ये सब महात्मापन का लक्षण नहीं है भगवान का दाम लेते रहो लेते रहो इससे बढ़िया और दूसरी कोई साधना नहीं प्रश्न तो वेदांतों थी लेकिन हम तो राम राम करो करते थे मजा नहीं कि वेद को अपरा विद्या अपरा विद्या का अंतर्गत मानती है तो शीत परा विद्या कहाँ से प्राप्त होगी और उसका स्वरूप क्या श्री कृष्ण ने कहा कि परा विद्या मुंडक उपनिषद परा विद्या है अपरा विद्या मुंडक उपनिषद तो- मुंडक श्रुति वेद को सूत्र परा अपरा विद्या स्मृति से शायद रोम मंत्र भाग वाला भी स्वामी जी ने वहाँ प्रवचन करते समय ये कहा मंडक विद्या भी उसका ब्राह्मण भाग अपरा विद्या है और उसका जो श्रुति भाग है उपनिषद भाग है वो परा विद्या है देखो विद्या पोथी का दाम नहीं है न मंत्र बोलने का दाम विद्या है विद्या हृदय में होती है तो जहाँ अपने पदार्थ का और तम पदार्थ का विवेक होकर दोनों की एकता का बोध होता है वहाँ विद्या होती है विद्या गीता प्रेस के कागज पर छपे हुए और उसमें जो कुछ मंत्र हैं थोड़े से उन मंत्रों का नाम विद्या नहीं होता है विद्या तो विद्या तो परमात्मा का दर्शन कराने वाली दर्शन है विद्या हृदय में होती है विद्या बाहर में नहीं होती है इसलिए पोथी के रूप में परा विद्या और अपरा विद्या दोनों पोथी है कागज के टुकड़े हैं प्रेस में छपे हुए हैं और विद्या के रूप में दोनों हृदय में है और वो महापुरुषों के हृदय में निवास करते हैं अब चाहे तो बातचीत कर सकते हैं परा विद्या के बारे में विद्या हृदय की वस्तु है विद्या कागज की वस्तु नहीं है स्याही की वस्तु नहीं है विद्या तो वो वस्तु है जो परमात्मा का साक्षात्कार कराती है हर समय भजन होता रहे इसका क्या पहले महीने में एक घंटा रोज भजन करो दूसरे महीने में दो घंटे करो तीसरे में तीन घंटे करो बारहवें महीने में बारह घंटे करो और फिर देख लो बारहों घंटे भजन होने लग जाएगा और करोगे तो एक दिन नहीं और कहोगे बारहों महीने निरंतर कैसे हो पहले घंटे भर रोज करके दिखाओ दो घंटे करके दिखाओ पांच छह घंटे करके देखा एक एक सज्जन हमारे पास आए हो तो पूछने लगे स्वामी जी महाराज निद्रा के समय गाढ़ निद्रा के समय भगवान का भजन होने लगे इसका क्या उपाय है अरे भाई सपने में जागृत में तो उस समय तो महाराज सपने में सपना देखते हैं जागृत में का, काम करते हैं घर का तो वो तो समय मिलता नहीं है अब आप ऐसा कोई समय बता दीजिए तो वही मेरे ये भजन करना कोई साधारण बात नहीं है आप बारह घंटे बारह घंटे नहीं आप नियम से 12 मिनट भजन कीजिए 12 मिनट के भीतर आपके दिमाग में और कोई दूसरी वस्तु नहीं आने पाओ केवल 12 मिनट बारह मिनट अगर ठीक भजन हो जाए तो समाधि लग जाती है this प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष लेकिन प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण है इसका उसके पास कोई उत्तर नहीं है लाल रंग है इसमें क्या प्रमाण है कि हमारी आंख हमारी आंख है इसमें क्या प्रमाण है सूरज की रोशनी सूरज की रोशनी में क्या प्रमाण है हमारी आंख से रूप का देखना होने का अभिप्राय ये है कि सभी दर्शनों में आज दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक तीनों शक्तियां काम करती रहती हैं केवल आदि भौतिक शक्तियों तक का ही संबंध है वे इसको नहीं जानते हैं और जिन लोगों का आधिदैविक शक्तियों से संबंध है मंत्रोच्चारण से कौन सा देवता प्रकट होता है किस देवता का आवाहन होता है अभी करने वाले लोग हैं करते हैं और उनको देवताओं के अनुभव होते हैं तो ये सोच लेना कि किसी को ऐसा नहीं होता है तो किसी को ऐसा होता है किसी को ऐसा नहीं होता है तो किसी को ऐसा नहीं होता है इसमें क्या प्रमाण है आज भी ऐसे महात्मा हैं जिनका देवताओं से मिलना जुलना होता है बातचीत होती है अनुग्रह निग्रह होता है ऐसा नहीं है कि अब सब आध्यात्मिक आधिदैविक शक्तियां टूट गई हैं अब भी लोगों को दर्शन होता है वरदान मिलता है अपराध करने पर साप मिलता है कहो कि ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है तो उससे पूछो कि ईश्वर नहीं है इसमें क्या प्रमाण है तो सत प्रतिपक्ष है ना बराबरी का पक्ष है जिस प्रमाण से ईश्वर सिद्ध होता है उसी प्रमाण से ईश्वर नहीं है ये भी सिद्ध होता है इसलिए ईश्वर के होने में तो कोई संदेह ही नहीं है और उसके ये छोटे छोटे विभाग हैं बीज है तो अंकुर भी है अंकुर है तो उसमें शाखाएं भी है शाखाएं भी है तो उसमें फल फूल भी है जो लोग जी जान से अपने को बलिदान कर चुके हैं इस विषय पर उनको ईश्वर का दर्शन होता है देवता का दर्शन होता है वरदान होता है सीमित भी होता है इतने दिनों के लिए है ऐसा भी देखने में आता है तो जो लोग अपनी शक्ति श्रद्धा से से विश्वास से देवता की उपासना करते हैं उनके जीवन में जरूर ऐसा होता है और देखने में आता है अब मान लो शंकर जी की बात को हम झूठी मान लें तो हम अपने को कहा ले जाकर बैठाते हैं इस पर तो ध्यान दो यदि तुलसीदास जी झूठ बोलने वाले हैं तो व्यास सुखदेव और वेद पुराण कोई भी सच बोलने वाले हैं ये बात कभी सिद्ध हो सकती है वेदों से लेकर अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सबसे अधिक सुंदर सुनिबद्ध और हृदय को आह्लादित करने वाला प्रत्यक्ष अनुभव देने वाला श्री रामचरित मानस है इसके जोड़ का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता है तो यदि हम इन मूलभूत शब्द प्रमाणों को ही शब्द प्रमाण को ही यदि हम मिथ्या मान लेंगे हम जो कह रहे हैं सो सच है इसमें क्या प्रमाण रहेगा इसलिए निश्चित रूप से ही लोग पर लोग हैं उनमें आना जाना होता था और रिश्ते नाते होते थे संबंध होता था बच्चे होते थे ब्याह होता था ये सब जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है वो एक भी झूठी नहीं है मतलब? देवताओं के आशीर्वाद से भी होता था देवता देवता लोग ब्याह कर देते थे आपस में आपस में नहीं मनुष्य से अच्छा है इस प्रकार की never hear. अभी भी कहते हैं किसी को भूत किसी लड़की को भूत हाँ मैंने वो तो भूत दिखता नहीं है परंतु ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि शारीरिक संबंध होते हैं देवता जैसी कुंती को दे हाँ जैसे कुंती को उसी का है और सभी का नहीं है कुंठी का है गंगा का है तो किसी को होता है किसी को नहीं होता उसमें क्या इसमें उपासना का फर्क जिसका अंतकरण शुद्ध है उसके योग्य है सबका ब्याह तो सबसे नहीं हो जाता है ना हाँ? हाँ। इसलिए श्रद्धा पूर्वक वैसे तो जानते ही हैं शंकर चैतन्य भारती की जो विद्या थी या करपात्रे जी महाराज की जो विद्या थी वो तो कोई पंडित से पढ़ी हुई तो नहीं जहाँ तक उनके पढ़ाने वाले लोग थे कोई उतना प्रचपशाली नहीं था कोई उतना योग्य नहीं था विकास नहीं होने से एक तो श्रद्धा हो और एक जितनी बड़ी कामना हो उसके अनुरूप साधना हो और सदाचार का पालन होता है सामर्थ्य भी मनुष्य में आ सकता है और की प्रजाति में पहले मैं आपके मन से ही राम नाम जपकर गुरु मंत्र प्राप्त होने के बाद जब गुरु मंत्र जपता हूँ तो बीच बीच में पुराना नाम आने लगता है इसमें क्या करना चाहिए तो इसमें जो गुरु मंत्र है उसका नियम कर देना चाहिए कि इतनी संख्या में हम गुरु मंत्र का नित्य जप करेंगे और उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते राम राम का जप करते रहिए पहले तो गुरु जी को बता देना चाहिए था कि हमको राम राम बहुत प्रिय है और हम उसका जप करते हैं यदि न बताया हो तो फिर पूछ लेना चाहिए न पूछा हो तो कहना चाहिए महाराज हमारा हृदय नहीं मानता है आप पुनः हमको आज्ञा दे दीजिए इसमें कोई हानि नहीं है राम सकल दामन से रूटा भगवान राम का नाम सबके लिए सबसे सुगमता ये है कि जहाँ प्रणव का जप करने के लिए ब्राह्मण फिर ब्राह्मणों में भी यज्ञोपवीति यज्ञोपवीतियों में भी संध्या वंदन करने वाला उसमें भी वैराग्यवान जिज्ञासी का जप कर सकता है लेकिन भगवान राम का नाम तो ऐसा सार्वजनिक है दोनों का गुर ही ये है कि राम नाम सबके कल्याण के लिए है और प्रणव आदि जो है वो किसी किसी के कल्याण के लिए पापी से पापी हो हम्म, गिरा से गिरा हो निम्न से निम्न कोटि का हो किसी हालत में हो पाप करते समय भी यदि भगवान का नाम लेगा तो उसका कल्याण ही होगा इसमें कोई संदेह नहीं प्रणय भजन न होने पर जो ज्ञानी होती है कितनी मात्रा में और कितने समय तक होनी चाहिए ये तो अपने अपने गुरु जितना बता दें उतना इसमें भगवान के भजन में मात्रा नहीं होती है तो संपूर्ण जीवन भगवान के लिए बलिदान करने को होता है कण भी जीवन का एक रोम भी भगवान के जीवन का भगवान के बिना न रहे ऐसा प्रयास भजन करने वाले को प्रयास करना एक क्षण एक कण एक कोण एक रोम भगवान के भजन के बिना नहीं रहना चाहिए उसकी मात्रा नहीं होती है कि इतना जप करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे भगवान के खरीदने की कोई कीमत नहीं है अपना सर्वस्व संपूर्ण जीवन भगवान के प्रति हवन कर दो कुछ बचा कर रखने को नहीं नहीं तो मिलेगा गुड़ खाने को मिलेगा फिर तब तक तो जाओगे तो संदेश खाने को मिलेगा नगर जाओगे डोसा तो इडली खाने को मिलेगी की चीजें भी मिल सकती हैं परंतु भगवत प्राप्ति दूसरी वस्तु है सत्य शनि श्रोते की मिलन में कुछ संदेह से मिलता है वो सत्य नहीं सत्य तो वो है जो सब मार्गों को तोड़कर तोड़कर सत्य का कहीं किसी कोने में रखा हुआ है शिवहार जाएंगे तब वो मिलेगा अमुक दिन दस बज के पांच मिनट पर सत्य मिलेगा दस मिनट क्या होता है किलोमीटर पर मिलेगा दस से वजन में दस किलो वजन में मिलेगा ईश्वर के लिए कोई मूल्य निश्चित नहीं होता है सर्वस्व का होम कर देना अपना मैं मिट जाना बिना मैं मिटे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती नेता बन सकते हो समाज सेवी बन सकते हो बाजे बजा सकते हो गांव में घूम सकते हो हजारों आदमी तुम्हारे पीछे चल सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति बिना ईश्वर स्वयं सत्य है इसलिए सत्य की प्राप्ति का उपाय नहीं होता सत्य स्वयं सत्य होता है और ईमानदारी से अपने को ढूंढो तो तुम स्वयं सत्य के रूप में मिलोगे दूसरे सबको कहा जा सकता है कि नहीं है दूसरे सब में संदेह हो सकता है कि है कि नहीं है लेकिन अपने अस्तित्व के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता इसलिए सत्य को पाना चाहिए तो अपने को पाना चाहिए कार्य को नहीं पावेगा वो भिन्न रूप सत्य को पावेगा तो बिछुड़ जाएगा यहाँ होगा वहाँ नहीं होगा ऐसा ईश्वर होगा अब होगा तब नहीं होगा ऐसा ईश्वर होगा ये होगा वो नहीं होगा ऐसा ईश्वर होगा तुलसी होगी बेलपत्र नहीं होगा शालग्राम होगा शिवलिंग नहीं होगा नैमिषारायण में होगा श्री रंगम में नहीं होगा ऐसा ईश्वर सच्चा ईश्वर नहीं होगा ईश्वर सत्य है सर्वत्र सत्य है सर्व समय सत्य है सर्व रूप में सत्य है यदि सत्य को पहचान लिया तो ईश्वर को पहचान लिया पा लिया इसलिए सत्य को पाने का मार्ग मार्ग नहीं होता है मार्ग रहित अपना स्वरूप जिसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता आना नहीं पड़ता मिलना नहीं पड़ता सिफारिश नहीं पड़ती वो अपना आपा जो स्वयं है वही असल में सत्य है और बाकी तो वो है तुलसी है तो सालक राम नहीं है सालक राम है तो तुलसी नहीं है बेलपत्र है तो तुलसी नहीं है तुलसी नहीं है तो बेलपत्र नहीं है ऐसा अधूरा ईश्वर मिलेगा तो अधूरा ही मिलेगा पूरा नहीं मिलेगा पूरा ईश्वर मिलेगा तो सत्य ही सत्य मिलेगा उसके सिवाय और कुछ नहीं और एक प्रश्न सत्य निष्ठा होने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि निष्ठा ही नहीं जो कुछ करने से होता है वो सच्ची निष्ठा नहीं होती है क्योंकि उसमें अहम का मैं का बल होता है और मैं के बल से जो होगा वो सच्चा नहीं होगा इसलिए संपूर्ण निष्ठाओं से मुक्त हो जाना ये भी सत्य की निष्ठा संपूर्ण निष्ठाओं से मुक्त हो जाए ऐसा हो सकता है व्यक्ति मत हो बात नहीं हाँ। सकता है और क्या नहीं हो सकता है इसका पता पहले लगाओ हजार हजार जन्म बीत जाएंगे करोड़ करोड़ जन्म बीत जाएंगे इसका पता नहीं लग सकता तो क्या हो सकता है क्या नहीं पकड़ना नहीं हो सकता slow down सकता मैं के सिवा सब छोड़ा जा सकता है परंतु मैं को नहीं छोड़ा जा सकता इसलिए परमात्मा जब मैं के रूप में प्राप्त होगा ये प्रश्न कहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं ईश्वर मिल सकता है कि नहीं ईश्वर को पाने की जितनी कोशिश है वो तुम अपनी ओर से पाकर करके देख न मिले तो कान पकड़ो इसको कोशिश करके देख तो लो हाँ, हाँ वो मैं ओ मैं ही ईश्वर है देखो हमारी लीला माई का काम ये सब है तो इसी कान पकड़े तुम्हारा तो उसके कान पकड़ने से काम नहीं होता कान पकड़वाने वाले नहीं है आज शरद पूर्णिमा है श्री चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है वेदांत में महाराष्ट्र का क्या स्वरूप है तथा ब्रज गोपियों और श्री कृष्ण के प्रयत्न सुधा निवेदन करने की कृपा प्रकृति जो है महामाया अविद्या ये है रात्रि उसका अंधकार सारी सृष्टि में फैला हुआ है इसमें जो जीव है चिंतिबाते हुए तारे पूरा चंद्रमा के समान इसमें श्री कृष्ण चंद्र भगवान इनके साथ रास कर रहे हैं करते करते जब रास अपनी पूर्णता पर पहुंचता है तब कोई न ग्रह न नक्षत्र न गोपी न मृत सब परमात्मा ही परमात्मा जितनी तीव्र गति हो जाती है कि तो उसमें भेद दर्शन बंद हो जाता है इसलिए ये सारी सृष्टि के रूप में रास हो रहा है और उसमें हम लोग कोटि कोटि अपरिमित कणों के रूप में चम चम चम चम चम चमकते हुए जीवात्मा है और श्री कृष्ण के साथ नृत्य हो रहा है सत्य में डूब जाओ देखो आनंद Thank you.